तम क्रतु पश्यति वीत को ये कहा गया अक्रतु पश्यति निष्काम ही ब्रह्म का साक्षात्कार कर सता है नहीं तो आत्मा दुर्विज्ञ है कामना वाले पुरुष प्राकृत पुरुष के द्वारा दुर्भिज्ञ आत्मा है क्योंकि इसके धर्म विलक्षण है आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तमदामदम देवम मदन्यो ज्ञातुमर्हति यमराज कहते हैं ये विरुद्ध धर्म वाला है अनेक धर्म है इसलिए उपाधि वसात अनेक धर्म है वस्तु तो अनेक धर्म नहीं है एक स्वरूप तत्वतः तो अनेक धर्म नहीं होने पर भी विरुद्ध धर्म दिखता उपाधि के कारण इसलिए जो उपाधि विवेक करने वाले उनके लिए तो ज्ञान होगा उपाधि अभिवित दर्शनस्तु दुर्विज्ञ एवं हम्म, सत्व विरुद्ध धर्मवत्व नास्ति यही चलेगा ना सत्व विरुद्ध धर्मवत्व नास्ति तेतदेव श्रुति योजना दर्शयति आत्मा में विरुद्ध धर्म स्वतः नहीं है आसिनो दूरम रजति सयान याति सर्वतः मदामद सहर्ष अहर्ष ये जो विरुद्ध धर्म कह गए स्वरूपत आत्मा में विरुद्ध धर्म नहीं है स्वत यदि वास्तव विरुद्ध धर्म रहेगा तो उपाधि के बिना भी रहेगा हमेशा रहेगा उसकी निवृत्ति नहीं होगी स्वत विरुद्ध धर्म तो नास्ति ये श्रुति योजना है थी श्रुति वाक्य का अन्वय करके दिखाते भगवान भाष्यकार भाष्य में करणानाम उपशम शयान शयनम शयन होता है इंद्रिय उपलब्धि वस्तु उपलब्धि इंद्रिय के द्वारा वस्तु का ज्ञान होता है जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में इंद्र इंद्र से विषय को इंद्र से विषय की उपलब्धि ही नहीं स्वप्न अवस्था में लगता है इंद्रिय से विषय ग्रहण करते हैं किंतु स्वप्न अवस्था में इंद्रिय विषय सब प्रातिभाषिक है व्यावहारिक विषय नहीं व्यावहारिक इंद्रिय नहीं व्यावहारिक शरीर भी नहीं जागत कालीन शरीर इंद्रिय विषय ये कुछ सपने में नहीं सपने में प्रातिभाषिक है अपने शरीर के जैसे शरीर लगता है वो शरीर वास्तव नहीं अपना इंद्रिय उसमें उनमें शरीर में है विषय भी बाहर दिखते हैं ये सब कुछ वासना वसात प्रतीति होती है मन ही स्वरूप बन जाता है तो इंद्रिय के द्वारा विषय की उपलब्धि जागृत अवस्था में और करणानाम उपशम शयनम शयन अवस्था में मन विषय बन जाता है इंद्रियों की इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय का व्यापार नहीं होता है स्वप्न दृश्य प्रातिभाषिक होने से उसको प्रकाश करने वाला साक्षी है प्रातिभाषिक वस्तु को प्रकाश करता है साक्षी जागृत अवस्था में घटपट रूप आदि का ज्ञान होता है और ज्ञाता होता है प्रमाता अंतकण विशिष्ट चेतना शुद्ध चेतन है वही प्रमाता कहा जाता है उपाधि विशिष्ट होकर के स्वप्न अवस्था में अंतकरण ही स्वयं विषय बन गया अंतकण विशिष्ट नहीं रहा चेतना अंतकण से उपहित जो चेतन अंतकण विशिष्ट था वो अंतकण से उपहित उपलक्षण अंतकण हो गया विशेषण नहीं रहा तो साक्षी रहा विषय को प्रकाश करता है रज्जु सर्प को भी प्रमाता नहीं देखता साक्षी प्रकाश करता है इंद्रिय के द्वारा चक्षु के द्वारा रज्जु सर्प नहीं दिखता है चक्षु तो केवल अधिष्ठान को देखने के लिए इदम अयम सर्प इसके लिए आवश्यक है साक्षी वास्य है सुषुप्ति अवस्था में मन का भी उपशम हो गया करणानाम उपशम शयनम कर्ण जनित से एक से विज्ञान से उपशम सयान से भवति कर्ण जनित एक देश विज्ञान कर्ण के द्वारा इंद्र के द्वारा जो ज्ञान होता है विशेष ज्ञान होता है विशेष ज्ञान होता है एक देश विज्ञान सारा संपूर्ण ज्ञान नहीं इंद्रिय के द्वारा कुछ ज्ञान होता है एक देश विज्ञान और विशेष विज्ञान होता है उसका उपसम सयान से भवति सोने सोते समय वो जो एक देश विज्ञान इंद्रिय के द्वारा होता है घटपट रूप रस आदि विषय का वो ज्ञान का उपशम निवृत्ति हो जाती है यदा च एवं एक देश विज्ञान से वृत्ति का में एक देश विज्ञान कैसे मनुष्यो हम नीलम पश्यामि इत्यादि परिचिन्न विज्ञान से यही विशेष एक देश विज्ञान मनुष्य परिचिन है शुद्ध चिद्रूप व्यापक है उसका संपूर्ण नहीं होकर के मनुष्य हो हम देह में मनुष्यत्व है उसके साथ आत्मा का तादात्म्य अध्यास एकत्व होकर के मैं मनुष्य हूँ ये हुआ ये एक देश विज्ञान का था परिच्छिन्न विज्ञान अपरिच्छिन्न ज्ञान नहीं परिच्छिन्न मनुष्यत्व है परिच्छिन्न ज्ञान नीलम पश्यामि नील रूप घटपट आदि परिच्छिन्न को देखता है इस प्रकार परिच्छिन्न विज्ञान होता है विशेष विज्ञान उसका उपशम हो जाता है किंतु स्वरूप विज्ञान शुद्ध नित्य ज्ञान रहता है एक नित्य ज्ञान है शुद्ध चिद्रूप रूप ब्रह्म स्वरूप है और विशेष विज्ञान होता है वो एक दृश्य विज्ञान परिचन्न विज्ञान वो परिचन्न विज्ञान एक दृश्य विज्ञान का उपसा निवृत्ति हो जाती यदा चैवम केवल सामान्य विज्ञानत्वात् असुस्थिति अवस्था में सामान्य ज्ञान रहा न ही द्रष्टुर दृष्टि विपरिलोप विद्यते अविनाशित्वात् दृष्टा की जो स्वरूपभूत दृष्टि है नित्य ज्ञान है उसका विपरिलोप विनाश नहीं होता है सुसुप्त अवस्था में विशेष ग्रहण नहीं होता है विशेष ज्ञान नहीं सामान्य स्वरूपभूत ज्ञान विज्ञान रहता है वही सुसुप्ति के साक्षी दृष्टा है सुसुप्ति का प्रकाशक है तब सुसुप्ति में प्रमाण है सरस्वती का अनुभव करता है दृग रूप चेतन वह उस समय अज्ञान रहता है अंतकण अज्ञान में लीन हो गया तो अविद्या वृत्ति होती है अज्ञान अविद्या है अविद्या वृत्ति उस समय है तो जागृत अवस्था में अंतकण में उसका संस्कार आता है तो उस प्रमाता उसका स्मरण करता है न किंचित अवेदिशम सुखम अहम सासम सुख से सो गया ये प्रमाता ही कहता है यद्यपि प्रमाता सुषुप्ति अवस्था में नहीं रहता है किंतु प्रमाता में जो चेतन से चेतन अंतकण विशेष चेतन है प्रमाता वो चेतन साक्षी रूप है अंतकण उपहित होकर के अविद्या वृत्ति उपहित होकर के वो चेतन एक है और जो अविद्या रहती है अंतकण आदि उसमें लीन हो जाते हैं वो अविद्या का ही परिणाम होता है अंतकण अंतकर्ण में सब अंतकर्ण आदि सब पदार्थ अविद्या में रहने से फिर अविद्या से जब अंतकर्ण प्रकट होता है अभिव्यक्त हो जाता है वो अज्ञान संस्कार को लेकर के सुषुप्ति अवस्था में जो अविद्या वृत्ति में अनुभव वृत्ति अनुभव हुआ उसका संस्कार को लेकर के अंतकर्ण आता है तो तो अंतकर्ण उपाधि विशिष्ट होकर के चेतन को स्मरण होता है न किंचित अविदिशम सामान्य विज्ञान रहता है जागृत स्वप्न सुश्रुति तीनों को प्रकाश करने वाले सामान्य चिद्रूप ज्ञान वो ज्ञान यदि नहीं होता सुश्रुति अवस्था में तो सुश्रुति अवस्था में अवस्था है कि हे करके कोई प्रमाण नहीं उठने के बाद संशय होना चाहिए काल में सो गया तो पता नहीं कमरा में था या कहाँ गया निश्चय होता कि मैं कमरा में ही था सो गया था और सुश्रुति में गाढ़ निद्रा में सो गया ये होता है तो सुश्रुति का साक्षी रहता है सुश्रुति अवस्था में सामान्य विज्ञान वो सामान्य विज्ञान रहने से केवल सामान्य विज्ञान तो सर्वत याति व सर्वत यात याता जैसे सारे कुछ उसमें कल्पित है अध्यस्त है वस्तु तो चिद्रूप ब्रह्म एक तत्व है उसमें सारा ब्रह्मांड अध्यस्त है अध्यस्त होने के बाद जैसे राज्य में सर्प दिखते समय रज्जु सामने है देख रहे हैं किंतु सर्प दिखता है सर्पत्वेन भ्रांत पूछता है रज्जु कहाँ है उसको बताते हो सर्प नहीं रज्जु है वो पूछता है रज्जु कहाँ है वो सर्प तो सामने दिखता है रज्जु कहाँ है तो दिखाते सर्प को देखते हुए सर्प ही रज्जु है इसी प्रकार चिद्रूप ब्रह्म में सारा ब्रह्मांड दिखता है पूछता है शिष्य चिद्रूप ब्रह्म फिर कहाँ है ब्रह्म कहाँ है सोना दिया सोनार को भूषण बनाने के लिए और भूषण बना दिया तो पूछता है हमारे मैंने जो सोना पिंड दिया था वो कहाँ है वो कहाँ रखा है पेटी में रखा है वो भूषण को देखा देखा यही इसमें सब हुए वही भूषण बना है सोना से और सुवर्ण को कहाँ दिखाएगा उसमें ही बताइए तो भूषण है सोना कहाँ है तो उसमें ही सोना है उसमें सोना तो उसके ऊपर है या उसके अंदर है भूषण के नीचे है भूषण के अंदर घुसा हुआ या भूषण के ऊपर है भूषण ही सोना है यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई प्रसिद्धि सर्वत्र परमात्मा को देखना है क्या है सर्वम ब्रह्म वासुदेव सर्वम ये सब कुछ वही है इसलिए ब्रह्म को कहते व्यापक सर्वव्यापक सर्वत्र है चिद्रूप ब्रह्म कहाँ है दिखा दी सर्वत्र है सोना कहां है क्या ये सब में है तुम्हारा सोना भूषण जितने बना दिया ये सब में है सारे भूषण को लेकर के सर्वत्र सोना सारा प्रपंच है इसे सर्वत्र ब्रह्म कहा जाता है प्रपंच मिथ्या निश्चय हो गया तो सर्वत्र कहाँ कहेंगे सर्व वस्तु कोई है ही नहीं प्रपंच में सत्य सब दिखता है तो सर्वत्र ब्रह्म दिखाते हैं प्रपंच ही नहीं मिथ्या अध्यस्त है चिद्रूप ब्रह्म है उसको सर्वत्र कुछ का नहीं सारे ब्रह्मांड में चेतना व्याप्त है कहते हैं सारे ब्रह्मांड क्योंकि चेतना ही सर्वत्र दिखता है इसलिए सर्वत्र याति इव जाता कुछ नहीं सामान्य विज्ञान में सब अध्यस्त है अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान के बिना नहीं रह सकती है जहाँ जहाँ अध्यस्त वस्तु दिखता है वहाँ जरूर अधिष्ठान है सर्प जहाँ दिखते हो वही रज्जु है सारे ब्रह्मांड जहां जहाँ सब दिखता है अधिष्ठान वहाँ है इसे कहते सर्वत्र है सर्वत्र है मतलब सर्वत्र पहुंचा हुआ व्यापक है आकाश को कहते सर्वगत सर्वगत मतलब क्या एक देश में था सब और चला गया सर्व सर्वत्र स्थित है वह प्राप्त है इसी प्रकार सर्वत्र याति इव याता नहीं है वो व्यापक है सर्वत्र अधिष्ठान है उसके बिना कोई रह नहीं सकता है यदस्त यद्भाति तदात्म रूपम जो है जो दिखता हुआ आत्मा ही है ऐसे वहाँ अधिष्ठान चेतन है जाता जैसे सर्वतो याति सगान याति सर्वत्र का श्रुति में तो कहा याति याति का तो याति इव जाता जैसे यदा विशेष विज्ञानस्थ स्वयं रूपेण स्थित इव और विशेष विज्ञानस्थ जो हो गया वो स्थित जैसे विशेष विज्ञान हो तो स्थित जैसे सामान्य विज्ञान हो गया तो सर्वत्र याति सयान याति सर्वत सयान सर्वत्र याति का था सर्वत व्यापक होकर के सामान्य विज्ञान है और विशेष विज्ञान वा अहम मनुष्य आदि परिचिन्न है तो स्थित एक परिचिन्न देश हो गया स्वयं रूपेण स्थित इव सन स्थित जैसे होते हुए मन आदि गतिसु तद उपाधिकत्वा दूरम व्रजति सचि हेव वर्तते मनादि सु मन भागता है इतने जितने सब शीघ्र जाने वाले रॉकेट आदि बनाए वैज्ञानिक लोग सब से और शीघ्र जाने वाले मन ये भेज में थे तो जहां कुछ ग्रह नक्षत्र को पहुंचने के समय लगेगा और मन तो एक सेकंड में सब ब्रह्मांड घूम करके आ जाता है सारे चिंतन कर लेता है जाता तो नहीं जिसको विषय करता है कत मन वहाँ चला गया मेरा मन अन्यत्र चला गया जाता कहाँ मन तो ऐसा है मन चल जाएगा तो शरीर हो जाएगा क्या हो जाएगा हरि उन तत्व कहते राम नाम सत्य है शरीर को छोड़ के मन गया तो गया मन ही रहता है तो जहाँ जिसको चिंतन करता है कहता मन वहाँ चला गया तो जिस प्रकार मन जाता नहीं सारे को विषय करता है इसी प्रकार मन उपाधि का उपाधि कौन से उपाधि के जाने से वो जाता जैसे उपाधि के हिलने से जल में चंद्र का आकाश का प्रतिबिंब दिखता है जल को हिलाएंगे तो प्रतिबिंब हिलता है उपाधि है स्फटिक के पास जपा कुसुम जपा कुसुम को ले लिया तो रक्त वर्ण नहीं रहा दर्पण को हिलाए तो प्रतिबिंब हिलता है उपाधि मन होने के कारण मन जब जाता है तो अचेतन सर्वतो याति इव जाता जैसे दौड़ता जैसे मन आदि गतिसु तदुपाधिकत्वात् दूरम व्रज पीव मन आदि गति होती है मन उपाधि के होने से मन का आगमन हुआ तो चेतन भी गा गया भ्रजति दूर भागता जैसे मन तो भागता है ये मन जहाँ जाता है वहाँ चेतन पहले से वहाँ मन में चेतन का प्रतिबिंब हो जाता है जहाँ जाए वहाँ चेतन है मन में उसका प्रतिबिंब होता है तो पहले से पहुंचा हुआ जैसे इसे कहते मन से भी शीघ्रगामी मन जहाँ जाए चेतन वहां पहले से है तो दूरम व्रजति दूर जाता जैसे मन उपाधि कौन से मन जो जाता है आत्मा जाता जैसे वस्तु तो जाता नहीं सर्वव्यापक और जाता है तो यहाँ भी है सच यही वर्तत यह मत देह देह में है देह में होते हुए करोड़ करोड़ योजन दूर में मन जाता है तो वहाँ भी जाता जैसे सर्वव्यापक है अधिष्ठान चेतन सारे ब्रह्मांड ग्रह नक्षत्र जितने दूर दूर में दिखते हैं सब कुछ चेतन में अध्यस्त है इसलिए दूरम ब्रजति का आसिनो दूरम ब्रजति यहाँ रहता है दूर जाता ब्रजति इव जाता जैसे असयान सर्वत याति इव जाता जैसे सर्वव्यापक है उपाधि को लेकर के ही सो विरुद्ध धर्म में स्वरूपतः उसमें कोई धर्म नहीं है जब उपाधि विवेक दर्शन विवेक करेंगे तो सुविज्ञ हो जाएगा ये टीका में पहले कहा था उपाधि अभिव्यक्त दर्शनस्तु दुर्भिज्ञ एव उपाधि उपाधि पहले तस्य सुविज्ञ उपाधि वसात आत्मा में विरुद्ध धर्म जैसे बहन होता है वस्तु तो है ही नहीं विरुद्ध धर्म उपाधि का विवेक नहीं करने से ही दुर्भिज्ञ उपाधि का विवेक करने पर ही ज्ञेय होगा देह उपाधि उसका विवेक नहीं करने से मैं मनुष्य मैं देह को दिखाते हैं देह को हम जब जानते हैं देखते हैं अदृश्य हमसे भिन्न होता है तो देह दृश्य हो गया तो हमसे भिन्न है देह हम नहीं है तो भी अहम बुद्धि छूटती नहीं है समझ में आ जाता है जो दृश्य होता है जिसको हम जानते हो हमसे भिन्न देह को हम जानते हैं इस देह हमसे भिन्न है मेरा देह जो मेरा है वो मैं नहीं हूँ मेरा मकान है वस्त्र पुस्तक आदि मेरा है तो मैं नहीं हूँ तो देह मेरा है तो मैं देह नहीं हूँ ये तो समझ में आ जाता है तो फिर मैं कहते समय ये नख से सिखा लेकर देह ही पहले उपस्थित होता है बड़े-बड़े समझदार व्यक्ति को तर्क पढ़ करके सिद्ध कर देता आत्मा ज्ञानाधिकरण आत्मा अनुमान से सिद्ध हो जाता है तो भी देह में हम बुद्धि नहीं जाती ब्राह्मणों यजेत मनुष्य कहेंगे यदि कोई कहे तो मनुष्य हुआ नहीं डांटेंगे मैं मनुष्य नहीं क्या जानवर हूं पशु हूं मनुष्य तो देह में है देह के साथ आदात्म करके बैठे तो उपाधि में विवेक नहीं हो उपाधि का विवेक नहीं होता है उपाधि का विवेक नहीं होने से दुर्विज्ञ उपाधि का विवेक करने से ज्ञ सुविज्ञ होता है इसलिए पहले आया था इसमें आया था अस्मदादि सूक्ष्म बुद्धि रे सूक्ष्म बुद्धि ऐसा है जो बुद्धि में सूक्ष्मत्व है अन्य व्यतिरेक कुशल वाला अन्य व्यतिरेक को समझने वाला सर्वत्र रहने वाला है जिसका अन्वय सर्वत्र होता है वो सत्य है सत्य है जिसका अभाव हो जाता है व्यतिरिक अभाव वो मिथ्या है कभी भी अभाव कहीं भी अभाव हो जाए मिथ्या है गीता में भगवान ने कहा ना अभाव विद्यते सत सत का अभाव नहीं होता है ना सत विद्यते भाव जिसका अभाव होता है कल्पित है मिथ्या है इस अन्य व्यतिरिक करके जिसका कहीं भी कभी भी अभाव हो मिथ्या है सारा जागृत प्रपंच का अभाव हो जाता है स्वप्न में स्वप्न प्रपंच का अभाव होता है जागृत में दोनों का अभाव हो जाता है सुश्रुति में इसलिए सौ मिथ्या है और साक्षी एक ही है दृश्य सब दृश्य जितने सब है उससे भिन्न है साक्षी चिद रूप है ये बार-बार उपाधि विवेक करने पर ही विज्ञ होता है उपाधि अभिव्यक्त उपाधि के साथ मिला कर देखते हैं देहादि के साथ मिला करके तो उसका दुर्विज्ञ होता है उपाधि को अलग कर दे तो आत्मा असंग है सर्वत्र अधिष्ठान रूप से स्थित है अधिसव में आत्मा को देखने का अर्थ सर्वम नास्ति आत्मा ही है सर्वम जो दिखते सब आत्मा सद्रूप ही है सद्रूप को छोड़ करके जो घटपट आदि विशेष रूप है उसका निराकरण करना विशेष का निराकरण करने सद्रूप है ऐसा विशेष करने अन्य व्यतिरेक शाली होने से सूक्ष्म बुद्धि से फिर इस पंडित से कस्यचित विज्ञ पंडित श्रवण आदि करेगा तो किसको ही ऐसे ज्ञान होता है ब्रह्म का उसमें ये इसलिए कहते हैं तत्परता चाहिए प्रयत्न करना चाहिए प्रमाद से ज्ञान नहीं होगा ऐसे प्रमाद करके रहने से सारा जीवन चला जाएगा एक जीवन नहीं कितने जन्म चलेगी ये भी इसे चले जाएगा अनंत जन अनादिकाल से कितने जन्म में साधना करते करते पुण्य पुंज इकट्ठी होता है तब जिज्ञासा होती है प्राप्त करने की इच्छा होती है परमात्मा का दर्शन करने की इच्छा होती है श्रवण करने की इच्छा होती रुचि होती है नहीं तो रुचि नहीं होती बहुत लोग श्रवण करने की रुचि नहीं होगी यही कहा गया आया भी बहुभिर्यो न लभ्य सरल से प्राप्त होने पर उसमें श्रद्धा नहीं होगी अनादर करे छोड़ देना यही होता है नहीं होता है बहु जन्म के साधन से प्राप्त होता है परमात्मा की विशेष कृपा से मनुष्य जन्म के बाद भी ये वेदांत श्रवण भी प्राप्त होता है और यदि उसमें रुचि होती थोड़ा समझ में आता है ये भी बहुत पुण्य का फल है बहुत लोग है उसमें रुचि नहीं नाचने कूदने के लिए कथा करो तो बहुत लोग इकट्ठे हो जाएंगे वेदांत के होने पर एक दिन जितना है दूसरे दिन आधा कम हो जाएंगे और बाकी जो बैठे हैं उसमें आधा सोएंगे तो तीन चार पाँच दिन में फिर देखो तो काली हो जाएंगे ये काम ही होते हैं किंतु ये होता है समझना यदि किसको रुचि होती है समझ में आता है तो बहु जन्म पुण्य के फल है ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ ये भी इसे चल जाएगा प्रमाद करने पर प्रमाद त्याग करके शुरू से लगने से ही प्राप्त होता है घिसने पर लकड़ी पत्थर को घिस करके अग्नि प्रकट करते हैं हमने देखा है लकड़ी को घिस करके जो अरहर के दाल खाते हैं उसकी लकड़ी को घिस करके ऐसा करेंगे अग्नि प्रकट कर लेते हैं बचपन में अपने प्रयास करते तो हाथ गर्म होता छोड़ देते हैं किंतु वो लोग काम करने वाले ऐसे घिसते घिसते घिसते अग्नि प्रकट हो जाती है रोई नारियल की चिल्ला रखते अग्नि आ जाती है प्रकट होते हैं देखें किंतु यदि कोई करना चाहे लगने से करेगा और यदि कोई प्रयास नहीं करे थोड़ी कर छोड़ देगा हो गया कहाँ अग्नि आएगी कहाँ अग्नि पहले दिखेगी कोई कहते ब्रह्म ज्ञान कहाँ होगा ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो हम सब वासना छोड़ देंगे कोई कहते सब छोड़ो कभी ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो हम सब छोड़ देंगे पहले ज्ञान हो जाएगा उसके बाद छोड़ना है ये पहले ब्रह्म कोई कहाँ भी किसको ब्रह्म ज्ञान होता है बैठेगी क्या हो जाएगा कोई कहते पढ़ने से क्या हो जाएगा कहाँ ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान हो जाए हम पढ़ लेंगे तो पहले नहीं जाने तो कोई कहे सीढ़ी में चढ़ो क्या होगा सीढ़ी में चढ़ने से पैदल चलो बद्रीनाथ गए क्या हो जाएगा हम दो चार पाँच दिन चले ना कोई बद्रीनाथ ना कुछ सात आठ दिन कोई चला फिर वापस आ गया कहा कोई बद्रीनाथ है ही नहीं बाहर इतने दिन चले नहीं क्यों जाना है दूसरे को मना करेगा जाने से कोई अब वहाँ तक तो पहुँचा आगे थोड़ा जाने पर दर्शन होता तो वहाँ से वापस आया और सबको क्या कहेगा वो आजकल का नहीं कभी था ये सब झूठे बस जो स्वयं प्राप्त नहीं करता है आगे नहीं बढ़ता है ऐसे बात करेगा सौ के लोग में श्रद्धा हो जाती है कुछ लोग मां को ऐसे बता देते बोलते ये कभी कभी हुआ था आजकल ऐसा थोड़ी होता है अर्थात आजकल परमात्मा दर्शन नहीं होता जैसे आजकल परमात्मा कहाँ चले गए परमात्मा का अभाव कहाँ होगा <laughs> वो अंतर्यामी सर्वत्र है अंदर भी है प्रयास करने पर प्राप्त होता है इसलिए शास्त्र में जो कहा गया दुर्विज्ञ दुर्विज्ञ नहीं छोड़कर भागने के लिए प्रयत्न करने से होगा और ज्ञान से लाभ क्या है आगे बताते हैं तद विज्ञानाच शोकात्य इत्यपि दर्शयति श्रुति दिखाती है उसके ज्ञान से शोक की निवृत्ति संसार शोक की निवृत्ति अत्यंत की निवृत्ति तद विज्ञानाच विज्ञान केवल ज्ञान नहीं ज्ञान विज्ञान जहाँ कहेंगे ज्ञान तो शास्त्र ज्ञान होता है विज्ञान विशेष ज्ञान है साक्षात्कार संशय विपर रहित ज्ञान से शोक की निवृत्ति थोड़े श्रवण से जो ज्ञान होता है कोई उसको ज्ञान मान करके वासना के कारण आगे मनन निधि ध्यान अथवा श्रवण नहीं करके छोड़ देते हैं तो उतने मात्र से कुछ नहीं होता है विशेष ज्ञान होने तक संशय विपर रहित ज्ञान से शोक की निवृत्ति होती इसको भी दिखाते हैं अशरीरम शरीरे स्वनवस्थे स्वस्थितम महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति अनवस्थेषु शरीरेषु अवस्थितम अशरीरम महांतम एवं आत्मानमत्वा धीरो न सचति धीर ही मत्वा ज्ञात्वा साक्षात्कार करके शोक को पार कर लेता है किसको जान करके अनवस्थेषु शरीरेषु अवस्थितम अशरीरम शरीर अनवस्था है नहीं रहने वाले शरीरेषु अनवस्थेषु शरीर हमेशा नहीं रहता है शरीर नष्ट होता देखते हैं किंतु अशरीरम अवस्थितम अशरीरम वो शरीर से विलक्षण शरीर नहीं है शरीर आत्मा नहीं शरीर में स्थित है वो स्वयं अशरीर अविद्यमानम शरीर में से उसके शरीर के साथ कोई संबंध है ही नहीं जिस प्रकार आकाश का संबंध किसी के साथ नहीं है इसी प्रकार आत्मा का संबंध किसी के साथ नहीं कोई शरीर के साथ उसका संबंध नहीं है आकाश का संबंध नहीं होने पर भी जल में उसका प्रतिबिंब दिखता है तो जल में घड़ा में दिखाते आकाश या आकाश या प्रतिबिंब को आकाश समझ करके जल में दिखाते हैं इसी प्रकार आत्मा का शरीर के साथ संबंध नहीं होने पर भी इसी शरीर के अंदर है जल के स्थान पर एक अंतकरण उसमें चिदाभास दिखता है चेतन जैसा लगता है तो कहते आत्मा ये देह को देख करके चिदाभास के कारण कहते आत्मा आत्मा जीव जीव जीव, जीव चेतन चेतन कहते जो शुद्ध चेतन है जैसे शुद्ध आकाश जल में प्रतिबिंब आकाश शुद्ध आकाश नहीं है वो तो प्रतिबिंब जुटा है शुद्ध आकाश तो जल भरने पर भी रहता है जल भरने के पहले घड़ा में आकाश था क्या भरने के पहले था अब भर देंगे तो भरने के बाद भी रहता है जल नहीं भर के अग्नि भरेंगे तो आकाश रहेगा कुछ भी भरो आकाश को कोई इधर-उधर नहीं कर सकता है जो आकाश शुद्ध आकाश उसको नहीं जान करके जल में जो प्रतिबिंबित आकाश को बच्चा कहता आकाश थोड़ा जल हिलाने से कहे आकाश हिल रहा है इसी प्रकार शुद्ध चेतन सर्वव्यापक उसको नहीं जान करके देह में चिदाभास को देख करके कहते हैं यही चेतन वो सब आप दूसरे को नहीं अपने को मैं मैं करते आपका स्वरूप व्यापक है सर्वत्र आपका प्रतिबिंब है प्रतिबिंब को मैं मान करके एक तरह में हम बुद्धि दूसरे में पर बुद्धि ये बुद्धि करके इसमें चल रहा है जो शरीर है शरीर में स्थित है शरीर से विलक्षण अशरीर है आत्मा शरीर के साथ उसका कोई संबंध नहीं इसका शरीर है ही नहीं आपका शरीर है ही नहीं आपका तो ये शरीर को लेकर नहीं समझना ये शरीर को लेकर मेरा मैं तो शरीर मेरा क्या सर मैं ही सर ऐसा नहीं आपका जो वास्तव स्वरूप है वो सबके शरीर के तार्किक लोग भी कहते आत्मा सब शरीर के अंदर बाहर है एक ही वो तार्किक लोग कहते सब का आत्मा अलग अलग आत्मा सब के शरीर के अंदर और बाहर है वेदांति कहते सब के अंदर बाहर आत्मा एक ही है भेद में भी प्रमाण नहीं है भेद सिद्ध करते आप सुख दुख जन्म वर्ण को लेकर के देह के धर्म भिन्न से आत्मा का कैसे भेद हो जाएगा एक आकाश में यहाँ कि शब्द दो दूसरे स्थान में शब्द दो स्थान में दस स्थान में शब्द हो सकता है दो क्या हजार करोड़ स्थान में सब शब्द होता है शब्द भिन्न भिन्न कोई कहता है गौ कोई कहता है घट कोई कहता है पट अन्य अन्य लोग सब अलग-अलग शब्द उच्चारण करते या सारा ब्रह्मांड में एक ही शब्द एक समय बोलते हैं तो आकाश भिन्न हो जाएगा ना शब्द भिन्न भिन्न हो शब्द भिन्न होने से आश्रय क्यों भिन्न होगा और यदि धूम पर्वत में निकलता जोर से तो हृदय में अवश्य बनी है धूम निकलता है ना जोर से धूम निकलता है पर्वत से और हृदय में वाणी सिद्ध करना सुख दुख आदि अंतकण में और आत्मा में भेद सिद्ध करना कहते एक सुखी एक दुखी इसलिए आत्मा भिन्न भिन्न है एक सुखी एक दुखी एक अंतकण में सुख है एक अंतकण में दुख है एक घड़ा में एक घड़ा में आकाश हिल रहा है एक घड़ा में आकाश तिर है इसलिए आकाश दो हो गए घड़ा में प्रतिबिंबित आकाश में एक घड़ा में आकाश है एक में हिल रहा है एक टूट गया आकाश आकाश नष्ट हो गया क्योंकि चल चला गया आकाश दिखता नहीं तो भी एक ही आकाश है इसी प्रकार चेतन एक है शरीर के धर्म को लेकर के भेद सिद्ध नहीं होगा शरीर में भेद है शरीर में रहने वाला अपने को शरीर माने में रहने वाला अपने को मकान माने ये पांडित्य है ना ये मूर्खता <laughs> मूर्खता कौन से खराब लगेगा शरीर देह में घर में रहने वाला मकान को कोई कहे यही मैं हूँ मकान को दिखा दिया इसी प्रकार शरीर को मैं समझे ना शरीर में रहता है वस्तु तो शरीर के अंदर बाहर सर्वव्यापक है तो शरीर के अंदर भी है अनवस्थेषु शरीरेषु अशरीरम अवस्थितम अशरीरम और वो शरीर के परिमाण नहीं अशरीर कहकर महानतम कोई लोग कहते शरीर के अंदर रहेगा तो छोटा आत्मा होगा हृदय देश में हृदय हृदय से जुड़ा तिष्ठति छोटा होगा अनुपरिमाण कोई कह देते हैं और कोई और थोड़े विचार करते हैं आगम प्राण छोड़ करके ये शरीर में रहता था शरीर जितने बड़ा आत्मा इतने बड़ा छोटा क्यों कल्पना करना क्योंकि अभी शरीर जाकर पूरा गंगा जी डूब के लगाओ ठंडा एक देश एक देश में ठंडा लगता है या पूरा शरीर में तो आत्मा यदि एक देश में अनुपरिमाण होगा जैसे सुई छेदन क्या यहाँ सुई लगा यहाँ सुई लगा तो एक स्थान कष्ट फिर यहाँ कष्ट इसी प्रकार होना चाहिए ठंडा यहाँ थोड़ा लगा फिर इधर थोड़ा यहाँ किंतु एक साथ लगता है इसलिए अनुपरिमाण नहीं है तो कुछ लोग कहते शरीर के जितने बड़ा है इतने बड़ा आत्मा है जैन लोग का मत है और शरीर छोटा था बच्चा बड़ा हो गया तो आत्मा बड़ा हो जाएगा और बूढ़ा होने पर छोटा हो गया तो छोटा हो जाएगा और मर करके हाथी बन गया तो बड़ा हो जाएगा चिंटी बनेगा तो छोटा हो जाएगा कहाँ से अवयव आत्मा में आ जाएंगे छोटा बड़ा होगा तो अनित्य हो जाएगा तो कहने तो एक रूप मानो परिवर्तन नहीं होता है एक रूप मानेंगे तो शरीर जा करके मनुष्य मर गया हाथी बन गया पाप कर्म से तो हाथी के एक टांग में रहेगा बाकी सब जड़ और चिंटी हो गया तो थोड़े देर से अंदर घुसेगा और बाहर आत्मा रहेगा ये सब आपत्ति है इसलिए श्रुति प्रमाण कहते प्रमाण है उसको अनादर कर अपने मन से कल्पना करने वाले कुछ ना कुछ कल्पना करते कल्पना करने के लिए कौन मना करेगा श्रुति कहते महानतम विभुमात्मान महान है अनोरणियान मौतमयान महान है और विभु व्यापक हो महान का अर्थ ये पर सामान्य थोड़े छोटे को बड़ा कहते ये कहते ये ये पुष्प ये जपा कुसुम पुष्प ऐसे कहते ये बड़ा है ना नहीं सही बड़ा है ना महानतम ये पुस्तक से बड़ा है इसी प्रकार महान शब्द बड़ा शब्द कहते छोटे के भी बड़ा तो महानतम कहेंगे तो थोड़ा बड़ा है ठीक है चिंटी के अपेक्षा बड़ा होगा ये कहते नहीं विभुम महानतम को अगर विभु कहते व्यापक आत्मान आत्मा है आ महान विभु वहाँ कोई लोग कहेंगे विभु कहा गया तो ईश्वर को कह दिया ईश्वर कहते नहीं आत्मानम मत्व आत्मा ही है वही आत्मा एम प्रीत विचिकित्सा अस्तित्व के नचिकेता ने पूछा था मरने के बाद आत्मा है नहीं जो संशय आत्मा है वो आत्मा विभु है उसको जान करके मत्वा ज्ञात साक्षात्कार करके धीरो न सोचति शोक को प्राप्त नहीं करता है यही संसार शोक है अशरीरम स्वेन रूपेण आकाश कल्प आत्मा स्वरूपत आकाश के समान है आत्मा आकाश का किसी के साथ कोई संबंध नहीं है असंग है यथा सर्वगतम सौक्ष्म्याद आकाशम नोपलिप्यते इसी प्रकार आत्मा है आकाश कल्प का ईषद असमाप कल्पपदेश देशे आकाश से थोड़ा न्यून थोड़ा न्यून का ही है आकाश कल्प न्यून है आकाश में शब्द आदि गुण है इसमें ये गुण नहीं है आकाश के जैसे स्वयं रूपण असंग है कोई शरीर के साथ संबंध नहीं है जैसे आकाश का आत्मा तम अशरीरम ये अशरीर है आत्मा शरीरेषु अवस्थितम किस शरीर में बहुवचन दिया देव पितृ मनुष्य आदि शरीरसु देवता के शरीर में पितृ लोगों के शरीर में मनुष्य आदि पेड़ पौधे कीड़े मकड़े सब के शरीर में जीव में शरीरसु अनवस्थेसु शरीर सब अनवस्था है अवस्थित रहितेसु शरीर स्थिर नहीं रहता किसी का शरीर उत्पन्न हुआ थोड़े दिन में फिर नष्ट हो जाएगा छह भाव विकार से युक्त है जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षयते विनशति विनाशी सब सर अवस्थित रहते सो अनित्य सो सर्व अनित्य है अनित्य सर में स्थित है किंतु आत्मा नित्य अवस्थितम नित्यम आत्मा नित्य है शरीर अनित्य है नित्यम अविकृतम एतत् अविकृतम कोई विकार नहीं है शरीर में ह्रास बुद्धि होने पर भी आत्मा में कोई विकार नहीं है एक रस आत्मा है इसलिए आत्मा का नाम अच्युत है स्वरूपात न अच्युतो भवति अपने स्वरूप से जैसे परिवर्तन नहीं होता है नित्यम अविकृतम आत्मा है एतत् महांतम बड़ा महांतम द्वितीयांत महत्व से आपेक्षिकत्व संकाया बड़ा कहेंगे किससे बड़ा है बड़ा बड़ा बड़ा कहेंगे बड़ा छोटा छोटा और बड़ा में आपेक्षिक होता है आंवला इतने बड़ा आंवला देखा है इतने इतने बड़ा आंवला बड़ा है छोटा है बड़ा है और नारियल इतने बड़ा हो तो छोटा है कद्दू इतने बड़ा होगा तो काशीफल छोटा है यदि आंवला हो गया तो बहुत बड़ा है लौकी यदि इतने इतने छोटा देखोगे लौकी क्या कहेंगे छोटा है <laughs> ये इतने छोटा है चिंटी इतने देखो तो <laughs> बड़ा चिंटी देश को बड़ा छोटा किसको कहेंगे किसकी अपेक्षा बड़ा किसकी अपेक्षा छोटा होता है महत्वम किमपिजा महान किससे बड़ा है घड़ा भी छोटा होता है बड़ा होता है कोई भी वस्तु छोटा बड़ा होता है किसकी अपेक्षा है इसलिए महत्व अपेक्षिक हो सकता है महत्व से अपेक्षिक तो शंका है किसकी अपेक्षा थोड़ा बड़ा है आत्मा बड़ा मतलब किसकी अपेक्षा बड़ा ठीक है छोटे से बड़ा है इसलिए कहते ये नहीं विभुम व्यापिनम व्यापक है महान शब्द है बड़ा शब्द शब्द का अर्थ जो अर्थ है वो अर्थ का संकोच करना पड़ता है कहीं कहीं जहाँ अर्थ मुख्य अर्थ लेंगे तो नहीं हो सकता है कहेंगे सब महात्मा को पहले खिला दो भोजन करा दो बहुत महात्मा आए भक्त लोग के भी पहले सब महात्मा खिला दो सब महात्मा खिलाएंगे मतलब जितने महात्मा यहाँ आए उनको खिलाएंगे या जो महात्मा अन्यत्र हरिद्वार में काशी में पहले उनको खिलाएंगे पहले यहाँ इन जो आए खिलाएं उसके बाद काशी जाएं खिलाने के लिए जो उपस्थित है उनको पहले खिलाओ बाद में भक्तों को खिलाओ सर्व सदका तो संकोच करना पड़ता है ये उपस्थिता जो उपस्थित है इनको पहले सबको खिला दो सर्व सदका तो सब सारा ब्रह्मांड भी जितने वो संभव नहीं सारा ब्रह्मांड भी जितने साधु सबको खिलाना साधु हो ब्राह्मण हो मनुष्य हो सर्व कहेंगे तो सर्व अर्थ संकोच करना पड़ता है क्योंकि असंभव है जितने उपस्थित ऐसा नहीं होगा तो सर्व शब्द का अर्थ मुख्य अर्थ लेंगे तो संभव नहीं होता है वहाँ संकोच करना पड़ता है ब्रह्म शब्द का बृहत है वहाँ यदि कोई विरोध नहीं है तो क्यों उसको संकोच करना ब्रह्म शब्द का अर्थ बृहत है महत है महत महान सर्व महत्तम सर्व से बड़ा है बृहत्तम ये अर्थ होता है इसी प्रकार यहाँ महान संकोच करने का नहीं का नहीं विभु कहन से व्यापक है वही महत्तर सबसे महत्तम महतो मयान कहन से सबसे बड़ा है या महान शब्द का अर्थ संकोचनी का करना सबसे बड़ा है वह विभु के व्यापक है व्याप व्यापिनम आत्मानम आत्मा ग्रहण किस लिया आत्मग्रहण सतो अनन्यत्व प्रदर्शनार्थम स्वतः ब्रह्म परमात्मा अपने से अभिन्न है वही आत्मा है ग्रहणम यद्यपि आत्मा का प्रकरण है आत्मा का अर्थ सिद्ध ही है आत्मा के विषय में प्रश्न है तो फिर आत्मा ग्रहण करने का क्या है तो ये आत्मग्रहणम अनन्यथ सत अभिन्न है एक ही तत्व है और विभु का ईश्वर कहते हैं ईश्वर कहेंगे तो ईश्वर ही आत्मा है एक ही तत्व आत्मा है <clears throat> आत्म सद प्रत्यगात्म विषय वो मुख्य तम ईद आत्मानमत्वा आत्म शब्द का अर्थ परमात्मा में आत्म शब्द का प्रयोग होता है तो भी ईश्वर भी आत्मा है तो आत्मत्वेन उसको समझना ईश्वर को जो ईश्वर है वही आत्मा स्वयं अपना स्वरूप है तो आत्मा शब्द प्रत्येगात्म से मुख्य मुख्य है प्रत्येगात्म ईश्वर के कहेंगे तो पर शब्द जोड़कर परमात्मा कहते हैं और केवल आत्मा कहेंगे तो परमात्मा को नहीं कहते ये प्रत्येगात्मा को कहते हैं प्रत्येगात्म विषय मुख्य तम ईद समात्मानमत्वा मत्वा जो ईश्वर आत्मा से अभिन्न है उसको जान करके उसको कैसे जानना अयम अहम इति अहम अस्मि इति आत्मानं चेद विजानियात अहम अस्मि इति पुरुष अयम अहम तो मैं हूं ऐसा जी जानता है आत्मानम चेद विजानियात अयम अस्मि अयम अस्मि अयम अस्मि का करता है अहम अयम अहम अस्मि अही मैं हूं अहम अस्मि अहम तो ज्ञान होगा अयम अहम अहम अस्मि अहम ऐसे ज्ञान होगा इदम असो तद ऐसा नहीं अपने से अभिन्न रूप से जो जान लेता है तो धीरो न सोचती धीर है धीम राति धीर बुद्धिमान धीमान विवेकी है वो धीमान ज्ञानीवान न सोचती शोक कहाँ होगा नहीं एवं विध से आत्मविद शोक उपपति ऐसा जो आत्मा व्यापक स्वरूप जानता अद्वितीय आत्मा आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है एक अद्वितीय सर्वमिदम आमच ब्रह्मैव सब एक ही तत्व जो जान लिया और आत्मा से भिन्न कोई है ही नहीं शोक कहाँ होगा भय कहाँ होगा शोक का कारण ही नहीं रहा शोक हो नहीं सकता है न सोचती शोक की निवृत्ति शोक का अभाव है और शोक का अभाव भी इस प्रकार है शोक का अत्यंतिक अभाव कभी शोक है ही नहीं सकता संसार है ही नहीं आत्मा में यद्यपि दुर्विज्ञेयो एम आत्मा तथापि उपायन सविज्ञेयो इत्यः यद्यपि आत्मा दुर्विज्ञेय कहा पंडित से आप दुर्विज्ञेय शास्त्र कुशल हो तो भी दुर्विज्ञेय होता है तथापि उपाय से सुविज्ञेय उपाय से ज्ञान हो सकता है उपाय आगे कहते हैं नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुनाशुतेन यमे वै सब वृणुते तेन लभ्यस आत्मा विवृणुते तनु स्याम आत्मा प्रवचन न लभ्य न मेधया मेधया न लभ्य बहुना श्रुतेन न लभ्य यम एव एष एष साधक जिनका वर्णन करता है तेन आत्मना लभ्य तस्य आत्मा स्वाम तनु विवृणुते स्वरूप अपना तनु स्वरूप को प्रकट कर लेती है ये आत्मा यथार्थ अयम आत्मा प्रवचन न लभ्य प्रवचन है कथा प्रवचन नहीं प्रवचन है वेद स्वीकरण वेद ग्रंथन अध्ययन अध्ययन अध्यापन प्रवचन न लभ्य मतलब प्रवचन ही करना चाहिए यह अर्थ नहीं है केवल प्रवचन करने मात्र से नहीं होगा न मेधया मेधा से भी ग्रंथ धारण शक्ति को मेधा कहते हैं ग्रंथ को निश्चय और ग्रंथ अंध को धारण ग्रंथ को रट कर याद करना ग्रंथ का अर्थ समझ अर्थ को समझ लिया समझ रख लिया इतने मात्र से न लभ्य ये अर्थ नहीं कि मेधा से प्राप्त नहीं होगा इसलिए मेधा को छोड़ देना है ये नहीं मेधया न लभ्य केवल ग्रंथ अर्थ को धारण कर लिया समझ लिया रट कर याद कर लिया अर्थ को समझ लिया इतने मात्र से आत्मा की प्राप्ति नहीं है न बहुना श्रुतेन बहुना श्रुतेन केवल है न श्रुतेन केवल बहु श्रवण किया केवल श्रवण से प्राप्त नहीं होगा श्रवण तो साधन है केवल श्रवण करने से ही श्रवण के बाद मनन नित्यासन करना पड़ेगा वो नहीं करेगा बहुत श्रवण करने मात्र से प्राप्त हो जाए ऐसा नहीं तो फिर कैसे प्राप्त होगा यमेव ऐसा भ्रुणुते जिसका स्वयं वर्णन करता प्रार्थना करता है उसी आत्म स्वयं आत्मना लभ्यते इसमें अर्थ करेंगे निष्काम होकर के प्रार्थना करता है तो ही अपना प्राप्त होता है एक अभेद चिंतन करता है तो उसका अन्य व्यर्थ करेंगे जिसका आत्मा का ही साक्षात्कार करना चाहता है तो अभिन्न रूप से आत्मा का साक्षात्कार होता है कहीं परमात्मा अनुग्रह रूप से भी कहेंगे आचार्य का अनुग्रह रूप से वही परमात्मा आचार्य रूप से व्यवस्थित है उनके अनुग्रह से प्राप्त होता है अनुग्रह वही होता है जब स्वयं अपने प्रयत्न करता है तब अनुग्रह होता है अनुग्रह लभ्य मतलब कुछ नहीं करे बैठेंगे अनुग्रह करें तो हो जाएगा ये नहीं अनुग्रह करेंगे कब जब प्रयास करता है तो अनुग्रह करेंगे प्रयास बहुत करते करते साधक थक जाता है बहुत प्रयास करता है फिर विचार करता है परमात्मा की कृपा प्रार्थना करता है जब तक अद्वैत ज्ञान नहीं होता तब तक भेद बुद्धि रहती है और आचार्य ईश्वर भक्ति यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु ऐसे पराभक्ति हो भक्त्या माम अभिजानाति यावनश्चास्मि तत्वतः पराभक्ति होने पर उसे पराभक्ति से माम अभिजानाति दृढ़ भक्ति परा विचारणी भक्ति और कुछ नहीं है एक तत्व है और भेद बुद्धि जब तक है तब तक भक्ति दृढ़ नहीं होती है भेद हो तो भक्ति नहीं अभेद होने से एक ही तत्व है ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाए तो ज्ञान साक्षात्कार होता है वही पराभक्ति है निधि ध्यासन निरंतर अहम अस्मि चिंतन करने पर प्राप्त होता है तो ये परमात्मा के अनुग्रह से प्राप्त होता है विभ्रूणते खुल कर देता है तनु अपने शरीर को स्वरूप को प्रकट कर लेता है खोल देता है प्रकाश कर देता है पारमार्थिक स्वरूप को तनु शरीर किंतु पारमार्थिक स्वरूप को ही अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देता है परमात्मा नायम आत्मा प्रवचनेन अनेक वेद स्वीकारनेन लभ्यो ज्ञेयो प्रवचन का था अनेक वेद स्वीकार गुरुकुल वास करके वेद का अध्ययन उच्चारण अनुचारण करके वेद की प्राप्ति स्वीकार शब्द से रट करके शब्द उच्चारण शुद्ध करके वेद अध्ययन उसके बाद अर्थ विचार करना मीमांसा से वेद के साथ अंगों का अध्ययन करना पड़ता है छह अंग वेद अध्ययन के साथ अंगी देवदत्त आया तो उसका हाथ पैर कान नाक सब आए गए और कमरा में रख कर आएगा अंगी आया तो उसके साथ अंग है वेद पढ़ना मतलब अंगों के साथ वेद का अध्ययन अंगों का अध्ययन होता है तो मुखम व्याकरण प्रोक्तम व्याकरण आदि से अंगों के ज्ञान होने पर अर्थ ज्ञान होता है अर्थ भी ग्रहण करना है आत्मा या अनेक वेद स्वीकारने ना वेद का स्वीकार अर्थ ग्रहण करना पर शब्दोच्चारण शुद्ध करना ये सब करने पर मात्र से न लभ्य ज्ञेय आत्मा नापि मेधया मेधा ग्रंथार्थ धारण शक्ति ग्रंथ और अर्थ ग्रंथ को भी शब्द शब्द को रट करके रुद्राभिषेक करते रुद्धि कंठस्थ कर लेते हैं ऐसे कुछ कंठ केवल कंठस्थ कर लिया इतने से नहीं अच्छा ग्रंथ के साथ अर्थ का भी निश्चय हो गया अर्थ का ज्ञान है इतने मात्र से प्राप्त हो जाएगा नहीं है आवश्यक है ग्रंथ अर्थ चिंतन करना चाहिए इतने मात्र से नहीं होता है ऐसे कोई ग्रंथ कंट कुछ कंठस्थ हो गया या कुछ अर्थ आ गया उसे अभिमान करके बैठ गया हमको जितना आता है किसको नहीं आता है बहुत से लोग हमको आता है प्रसंग सब सबको हमको आता है हम ग्रंथ कंठस्थ है उसे कुछ लाभ नहीं अभिमान करने के लिए को, कोई भी कुछ कर सकता है ये सब साधन है किंतु इतने मात्र से नहीं साधन है ये चाहिए किंतु इतने मात्र से नहीं न बहुना श्रुते न केवल है न बहुना श्रुते न केवल है न केवल श्रवण करने बहुत ऐसा नहीं टीका में दिया कि बहुना श्रुते न दिया है आत्म प्रतिपादक उपनिषद विचार अतिरिक्त शास्त्र श्रवण न लभ्य बहुत श्रवण का तो वेदांत श्रवण से अतिरिक्त श्रवण ज्ञान का साधन नहीं है व्याकरण आदि अध्ययन आवश्यक है अर्थ समझने के लिए किंतु आत्म प्रतिपादक जो उपनिषद आत्म प्रतिपादक तो उपनिषद वाक्य उपनिषद विचार अतिरिक्त शास्त्र के श्रवण से न लभ्य और उपनिषद विचार से लभ्य हो जाए उपनिषद शास्त्र का श्रवण केवल उपनिषद विचारणा भी केवल है ना सिद्धोपदेश रहते न न लभ्य लभ्यते उपनिषद विचार करेंगे कहते उपनिषद तो अर्थ तो समझ आ जाता है बहुत भाषा में अर्थ है हिंदी में है अन्य अन्य भाषा में पढ़ने पर समझ आता था किसके पास जाएंगे और क्या बताएंगे उसका अर्थ तो लिखा है तो कहे उपनिषद विचार ना भी केवल है ना सिद्ध के उपदेश के बिना उपदेश रहते ना ज्ञान के उपदेश के बिना केवल विचार करने पर न लभ्यते प्राप्त नहीं होता है जो स्वयं साधना भजन नहीं करते वो ग्रंथ पढ़ कर पढ़ा देने से क्या होगा इसलिए विचार उपनिषद विचार अथवा स्वयं पढ़ ले पढ़ सकते हैं पढ़ करके सब विद्वान बन जा सकते हैं किंतु इतने सिद्ध उपदेश में न लभ्यते तो प्राप्त कैसे होगा परमेश्वर आचार्य अनुग्रहण तो लभ्यते त्याग परमेश्वर आचार्य अनुग्रहण परमेश्वर आचार्य उपस्थित तो था परमेश्वर और आचार्य अनुग्रह से लभ्यते इत्याह यमे भी सब न बहुना श्रुत ने केवल है न केन तरी लभ्य इति उच्यते किससे प्राप्त होगा इसका उत्तर यमे भी सब वृणुते ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु स वीर्यं करवावहै